नमस्कार आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका रेडियो फ्री नेशनल पर आपके साथ मैं हूं पूजा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड के कुछ सुरीले मीठे गाने और ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें आज का प्रोग्राम टोटली जैम पैक्ड है आज ओलंपिक्स का आखिरी दिन है और इस बार के समर ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा नहीं हम पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर नहीं हैं भारत पदक तालिका में अभी भी सैंतालीसवें स्थान पर है पर मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज हर भारतीय का सीना गर्व से फूला हुआ है होता यह है कि हम भारत से भारत में हों या भारत से कहीं बाहर हों जब भी भारत कुछ ऐसा करता है उसको कोई उपलब्धि होती है कोई अचीवमेंट होता है तो मैं ये बार बार कहती हूँ कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों किसी भी देश की नागरिकता का ठप्पा हम लोगों के पासपोर्ट्स पे लगा हो पर जब अपने देश की उपलब्धि होती है पोडियम पे खड़े हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए जनगण मन बज रहा हो होता है तो मन बिल्कुल बाग बाग हो गया होता है गर्व से भर उठता है दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं अपने रियल लाइफ हीरोज़ की यानी कि अपने खिलाड़ियों की इनके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको गाने सुनवाऊँगी मैं बहुत सारी स्पोर्ट्स मूवीज़ जो बनी हैं उनसे और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी शेयर करूंगी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस हाई एनर्जी सॉन्ग के साथ गाना सुनते ही आप फिल्म का नाम भी समझ जाएंगे और क्यों इस गाने से शुरुआत की है ये मैं बताती हूँ बाकी बातों के साथ इस गाने के बाद सुनिए <laughs> fantastic high energy song to open this uh, program. गाना सुनकर बहुत सारे लोग फिल्म का नाम तो जान ही गए होंगे ये थी 2013 की फिल्म भाग मिल्खा भाग इस गाने के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने संगीत था शंकर एहसान लॉय का और आवाज़ थी दिव्य कुमार की इस फिल्म जो कि भाग मिल्खा भाग बनी थी हमारे very decorated athlete and Olympian Milkha Singh ji पर जिनको कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था उनकी भूमिका निभाई थी फरहान अख्तर ने और क्या खूबसूरत फिल्म बनाई गई थी इस फिल्म ये फिल्म जो बनी थी ये ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड थी मिल्खा सिंह जी की ये ऑटोबायोग्राफी मिल्खा सिंह जी और उनकी बेटी सोनिया सनवालका सिंह ने मिलकर लिखी थी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो शायद कई लोगों को नहीं पता होगी इस फिल्म के राइट्स मिल्खा सिंह जी ने मात्र एक रुपए में दिए थे उसके साथ एक क्लॉज ये था कि इस फिल्म से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका एक share Milkha Singh charitable trust को जाएगा जो कि मिल्खा सिंह जी ने 2003 में शुरू करी थी ज़रूरतमंद खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स पर्सन की मदद के लिए और इस गाने से कार्यक्रम की शुरुआत करने की एक और बड़ी ख़ास वजह ये है कि कल 7 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत ने फील्ड एंड ट्रैक कैटेगरी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता um, javelin thrower Neeraj Chopra won first gold for India with an astonishing throw of 87.58 meters. ये भाला फेंक प्रतियोगिता होती है और इसमें उनके साथ वाले लोगों में से कोई इवन 87 मीटर्स को भी टच नहीं कर पाया uh, it was a wonderful achievement for Neeraj and for the whole, whole, whole country. और इस गाने से रेलेवेंस ये है कि नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल लेते समय बोला कि ये मेडल वो मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट कर रहे हैं मिल्खा सिंह जी जिनकी अभी हाल ही में जुलाई 2021 को इक्यानवे वर्ष की उम्र में जिनका स्वर्गवास हुआ नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट किया ये कहते हुए कि I hope he is looking over me Um, it was a emotional moment for him and for whole country चलिए आपका परिचय कराते हैं इस स्टार एथलीट के साथ नीरज चोपड़ा जो कि मात्र 23 साल के हैं इनका जन्म हुआ हरियाणा के पानीपत ज़िले के खांद्रा गांव में ये एक खेतीहर परिवार से आते हैं और ये कहते हैं कि ये बचपन में बहुत शैतान थे तो इनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए इनके फादर ने सबसे पहले इन्हें रनिंग से इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इनके चाचा जी ने इन्हें शिवाजी स्टेडियम पंचकुला में स्पोर्ट एकेडमी में इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ पे इन्होंने जैवलिन थ्रो को एज अ स्पोर्ट लिया और बहुत जल्दी ये उस खेल के साथ प्यार में आ गए तो मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी होगी इनके कोचेस कहते हैं कि he was an outstanding athlete very dedicated very hard working Uh, in 2016, he was appointed a junior commissioned officer in Indian Army with the rank of Naib Subedar. इस स्वर्ण पदक विजेता की तस्वीर के साथ कल कुछ पंक्तियाँ मैंने पढ़ी थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेंगी सुनिए कब तक बोझ संभाला जाए द्वंद कहाँ तक पाला जाए दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए अरे तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए and he did it he did it and he got us our first ever gold in field and tracks ये था एक संक्षिप्त परिचय हमारे gold medalist uh, Neeraj Chopra ji का अब सुनते हैं अपना अगला गाना और बातों का सिलसिला जारी रखेंगे गाने के बाद सुनिए Run! बापू हानिकारक है अगर बच्चों से मेहनत कराएं तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स का वो अच्छा इंटेंट समझ नहीं आता है राइट ये मस्ती भरा गाना था 2016 की फिल्म दंगल से इसमें बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने संगीत प्रीतम का और आवाज़ें सरवर खान और सरताज खान बरना की इस फिल्म में जो आमिर खान है उन्होंने महावीर सिंह फोगट की भूमिका निभाई थी ये भी एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा थी दंगल महावीर सिंह फोगट एक एमेच्योर रसलर हैं जिन्होंने अपनी दो बेटियां बेटियों को गीता फोगट और बबीता कुमारी को रसलिंग की पहले जो बेसिक शिक्षा होती है वो उन्होंने दी फिर एकेडमी में करवाया उसी की पूरी कहानी थी और दोनों ही बहनों ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीते तो ये थी कहानी फिल्म दंगल उन दोनों बहनों की पर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दो बहुत इम्पोर्टेंट नाम जिन्होंने हमें पदक दिलाए टोक्यो 2020 में पहला नाम है रवि कुमार दाहिया का रवि कुमार धाइया जिनको रवि कुमार के नाम से जाना जाता है ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं और इन्होंने 57 सेवन कैटेगरी में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए दाहिया भी सिर्फ तेईस साल के हैं इनका जन्म हुआ हरियाणा के सोनीपत ज़िले के नहारी गांव में रवि कुमार धाइया ने मात्र 10 वर्ष की उम्र से अपनी रेसलिंग की जो कोचिंग थी वो शुरू कर दी थी सतपाल सिंह जी जो फॉर्मर रेसलर uh, रहे हैं भारत के उनसे वो अपनी रेसलिंग की शिक्षा लेते थे छत्रपाल स्टेडियम नॉर्थ दिल्ली में रवि कुमार जी के जो उनका जो परिवार है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है उनके पिताजी एक छोटे से किसान हैं और जब रवि कुमार छत्रसाल स्टेडियम में अपनी ये रेसलिंग की जो इनकी ट्रेनिंग थी वो ले रहे थे तो बताते हैं कि इनके पिता जो गांव से स्टेडियम ऑलमोस्ट आठ दस किलोमीटर था रोज़ आते थे इनके लिए दूध फल वगैरह देने के लिए जो कि इनकी रेसलिंग की डाइट थी फॉर एंड वो उन्होंने ऑलमोस्ट एक दशक से भी ज़्यादा ये उनका रोज़ का रूटीन था तो जो जैसे गाने में बता रहे थे ना कि माता पिता अपने बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे मैं एक मोमेंट लेना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा जब um, इस मकाम पर पहुँचता है कि देश का नाम ऊंचा कर सके कोई इतनी बड़ी प्रतियोगिता में अपना नाम बना सके आई थिंक उसके वहाँ तक पहुँचने में जो उसकी मेहनत होती है वो तो है ही माँ बाप की मेहनत और उनके त्याग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता आ, वो जल्दी उठना वो दूर दूर तक ले जाना वो खाने पीने का ध्यान रखना वो महंगे इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करना सब कुछ माँ बाप कैसे करते हैं और आ, आ, किस तरह से वो सब मैनेज करते हैं ये कमेंडेबल है तो खैर जो उनके पिताजी ने किया कि 10 साल तक उनकी जो रेसलिंग की डाइट थी 8-10 किलोमीटर रोज़ आते थे उनको वो खाना पहुंचाने तो ये था संक्षिप्त परिचय रवि कुमार धाइया का अब आपको सुनवाते हैं एक गाना और फिर बताते हैं आपको एक और नाम रेसलिंग की दुनिया से चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना ना वो सजरी ने कहीं जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादाएं देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे था सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाले तू कहीं अग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा नसीबों में या हौसले की बातों में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है तूने संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभाने कहीं वही करना जो है कहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ये मीठा सा गाना था 2016 की फिल्म सुल्तान से इस गाने के बोल लिखे थे इरशद कामिल ने संगीत था विशाल शेखर का और आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की ये फिल्म बनाई एक फिक्शनल स्टोरी थी और इसमें सलमान खान ने एक रसलर का किरदार निभाया है इस वैसे तो ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी बट मेरे हिसाब से इसमें कुछ कमियां थी जो मुझे महसूस हुई थी कि आ, किसी इंसान को एक इतना अच्छा रसलर बनने के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग की जिस तरह के वक्त की ज़रूरत देनी पड़ती है आ, वो थोड़े डॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रातों रात बस आप एक वर्ल्ड क्लास रेसलर बन गए खैर ये तो बिकॉज इट्स अ फिक्शनल फिल्मी कमर्शियल ड्रामा तो चलता है पर अब मैं आपको बताऊंगी एक रियल लाइफ हीरो के बारे में रेसलिंग की दुनिया से जिनका नाम है बजरंग पूनिया और जिन्होंने टोक्यो 2020 में दिलाया है इंडिया को एक कांस्य पदक रसलिंग में 27 वर्षीय बजरंग पूनिया एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं और इन्होंने 65 केजी वेट कैटेगरी में इंडिया को दिलाया है कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में पूनिया का जन्म हुआ हरियाणा के झांझर डिस्ट्रिक्ट के खुंदन गांव में और इन्होंने ऑलमोस्ट सात साल की उम्र से अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी बजरंग बताते हैं कि he came from a very humble background इनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे या इस तरह की सुविधाएं नहीं थी कि वो इन्हें किसी कमर्शियल स्पोर्ट्स की शिक्षा के लिए आगे बढ़ा पाते तो और क्योंकि इनके पिताजी भी एक रसलर खुद भी रहे थे तो उन्होंने जो गांव में अखाड़े होते हैं वहाँ पर इनको आ, इनकी कुश्ती की या क्या कहना चाहिए रेसलिंग की जो शिक्षा थी उसको आ, शुरू करवाया बहुत अर्ली एज में और उसके बाद 2015 में इनकी इनका जो परिवार था वो सोनीपत मूव हो गया वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इनको दाखिला मिला और वहाँ इन्होंने विधिवत अपनी रेसलिंग की जो ट्रेनिंग थी उसको आगे बढ़ाया आ, ये इस समय रेलवेज़ में काम करते हैं गेस्टेड ऑफिसर हैं और इन्होंने इनकी शादी हुई है संगीता फोगट से जो कि इनकी फेलो रेसलर हैं और जिनका जिक्र हुआ था दंगल फिल्म के दौरान so that's the story of Bajrang Punia Tokyo 2020 Olympics में भारत ने अपने 117 एथलीट्स भेजे थे जिसमें 63 male athletes and 54 female athletes थे अभी तक हमने बात की नीरज चोपड़ा की um, रवि कुमार धाइया की बजरंग पूनिया की और अब हवा का रुख बोलते हैं अपनी महिला खिलाड़ियों की ओर पहले सुनवाती हूँ आपको ये गाना और फिर बताते हैं किसका नाम आ रहा है अगला किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कौन से मेडल के साथ सुनिए समझ के लड़ी हो बस छोरी समझ के ना लड़ी हो निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रा निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कर बेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है यो इंची टेप से ना पैगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे पिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से के पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है Acid, acid, acid, acid, acid, acid, acid, acid, acid, acid, Olympics को फॉलो करने वाले बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब मैं कौन से नाम लेने वाली हूँ अभी जो गाना हमने सुना एक बार फिर फिल्म दंगल से इसमें आवाज़ थी रफ्तार की गाने के बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत था प्रीतम का और जो दो नाम अब आने वाले हैं वो हैं वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जिन्होंने इंडिया को दिलाया एक रजत पदक और वुमेन बॉक्सिंग में Lovlina Borgohain bronze for boxing पहले बात करते हैं शेखों मीराबाई चानू की जिन्होंने भारत को दिलाया वेट लिफ्टिंग के 49 केजी कैटेगरी में silver medal in Tokyo 2020 Chanu lifted a total of 202 kgs, 87 kgs in snatch and 115 kg in clean and jerk ये सेकेंड इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है इसके पहले कर्नम मलेश्वरी थी जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 69 नाइन के कैटेगरी में 2000 में सिडनी गेम्स में Chanu was the first and only Indian weight lifter to qualify for Tokyo Olympics 2020. इनका जन्म हुआ था मणिपुर के इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नॉनगो खाकछिंग नाम के गांव में ये पांच भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ थी इनके पेरेंट्स ने करीब जब ये 12 साल की थी तब उसको पहचाना जब ये बहुत भारी वज़न भी आराम से उठा लेती थी जो इनके बड़े भाई बहन हिलाने से भी डरते थे और कोइंसिडेंटली 8 अगस्त आज इनका ट्वेंटी सेवेंथ बर्थडे है so very happy birthday to this star athlete from all of us let's listen to our next song and after that I will be talking about not one but two female boxing legends let's hear it अभी जिस गाने की झलक हमने सुनी ये थी 2014 की फिल्म मेरी कॉम से इसमें जो बोल थे वो संदीप सिंह के थे म्यूज़िक शिवन पाठक का था और आवाज़ें थीं विशाल दडलानी और सलीम मर्चेंट की और ये मूवी बनी थी boxing female legend Mary Kom की लाइफ के ऊपर इस फिल्म में मेरी कॉम के किरदार को निभाया था प्रियंका चोपड़ा ने और इसके लिए उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कहा जाता है she underwent four months of rigorous physical training and even boxing के जो मेरी कॉम का स्टाइल था उसकी भी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी जिससे कि बहुत सारे जो बॉक्सिंग एंथुजियास्टिक्स हैं they even couldn't pick any flaw while picturising that movie as Mary Kom Even though film was released in 2014, the story goes up only 2008 और इसमें वो नहीं दिखाया गया है जब 2012 लंदन ओलंपिक्स में मेरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था और मेरी कॉम का नाम इसलिए भी काफ़ी इज्जत से लिया जाता है because she was on you know rise of her career but फिर उन्होंने शादी की बच्चे हुए और उसके बाद she pick this sport again and went ahead and won a medal. So, अभी हमने बात की real life Mary Kom, real life Priyanka Chopra, and then coming back to real life. It's Lovlina Borgohain 27 वर्षीय लवलीना बोरगोय ने इंडिया को दिलाया विमेंस वॉल्टरवेट बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल बोरगोय का जन्म हुआ आसाम के गोलाघाट जिले में Um, इनके पिताजी एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे and he struggle financially to support his daughter's ambition इनकी दो बड़ी बहनें जुड़वा बहनें थीं लीचा एंड लीमा वो लोग ने भी नेशनल लेवल तक किक बॉक्सिंग किया पर फिर उन्होंने छोड़ दिया uh, लवलीना ने अपना करियर स्टार्ट किया था किक बॉक्सर की तरह but then she switch to boxing और the sport authority of India health trials उनके हाई स्कूल में तो उसमें जब लवलीना ने पार्टिसिपेट किया she was picked by renowned coach Padum Chandra Bodo और उसके it happens in two two thousand twelve and उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग के बेसिक्स सीखे and achieve the excellence in boxing so that's the story of Lovlina Borgohain इस 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल सात मेडल जीते हैं जिसमें कि दो सिल्वर चार ब्रॉन्ज एंड एक गोल्ड मेडल है तो पहले सुनते हैं एक गाना और फिर आपको बताते हैं एक अनदर फीमेल एथलीट के बारे में जिन्होंने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल सुनिए जहाँ ने दौड़ लगाई नहीं जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है जहाँ झीलों में चांद अभी तक है जहाँ हंसने पे शर्त न हो लोग जी चल वही चले चल वही चले न जाते हो जहा जहाँ के रास्ते अभी जिस गाने की झलक हमने सुनी ये थी अभी हाल में रिलीज़ हुई फिल्म सायना से ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म थी and it was based on the life of badminton player Saina Nehwal इस फिल्म में साइना के करेक्टर को प्ले किया था परिणीति चोपड़ा ने ये जो गाना अभी आपने सुना इसके बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने और आवाज़ थी श्रेया घोषाल की और इसमें जो म्यूज़िक था वो था अमाल मलिक का Sania Nehwal professional badminton player हैं भारत की और वो वर्ल्ड नंबर वन रह चुकी हैं उन्होंने 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं और प्रकाश पादुकोण के बाद वो आ, अकेली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर वन का टाइटल होल्ड किया है सानिया नेहवाल ने तीन बार ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 2012 के समर लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को विमेन सिंगल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज़ दिलाया था तो real life Saina Nehwal real life Parineeti Chopra who played Sania Nehwal and now coming back to real life P V Sindhu जिन्होंने हमें दिलाया है टोक्यो 2020 में वुमेन सिंगल बैडमिंटन में एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल 26 वर्षीय Pusarla Venkata Sindhu professional badminton player हैं she is the first Indian to become the badminton world champion and only the second individual athlete from India uh, to win two consecutive medals at the Olympic Games. 2016 Rio Summer O- Olympics, she won silver medal for India, and then again 2020 Tokyo, she got us a bronze medal. um, Sindhu born and brought up in Hyderabad <laughs> मज़े की बात कि इनके दोनों पेरेंट्स प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं और इनके फादर अर्जुन अवॉर्डी हैं बट पीवी uh, सिंधु ने बैडमिंटन को चुना वॉलीबॉल के ऊपर बिकॉज़ uh, 2001 के All England Open badminton champion में इन्होंने गोपी चंद जी का गेम देखा था और उससे ही बहुत प्रभावित हुई थी इन्होंने मात्र आठ साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था शुरू में इन्होंने लोकल इंस्टीट्यूट में उसके बेसिक्स सीखे एंड उसके बाद इन्होंने Gopi Chand badminton academy join की हिंदू के एक रिपोर्टर जो इनके करियर के बारे में लिख रहे थे उन्होंने लिखा है कि she always reported on time अपने कोचिंग कैंप में जबकि इनका घर और वो कोचिंग कैंप के बीच की दूरी थी 56 किलोमीटर्स एंड इज़ पर a reflection of her willingness to complete her desire to be a good badminton player with the required hard work and commitment and जो इनके कोच हैं गोपी चंद वो भी इस बात को सेकेंड करते हैं तो ये था संक्षिप्त परिचय हमारी star um, athlete P V Sindhu का now moving on to to major team events जिनकी हम बात करेंगे पर पहले ये गाना हाँ। आगे अंधी आंधी है मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है धज्जी धज्जी धज्जी धज्जी रात पुरानी छेड़ सुबह की नई ये कहानी जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया पलक हटा दे ओ बीरिया सर नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से पलक हटा दे ओ बीरिया सॉन्ग जो अभी हमने सुना ये था 2018 की फिल्म सुरमा से जो कि एक बायोपिक थी based on former Indian hockey team player and Olympian Sandeep Singh जो कि जिनको कि फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता था he was specialise in penalty penalty corners he was left paralyse after a gun shot wound accidentally और उसके बाद उनकी miraculous recovery and come back उस पर यह फिल्म बनी थी इस गाने के बोल लिखे थे गुलजार ने इसका संगीत था शंकर एहसान लॉय का और इसको आवाज़ दी थी शंकर महादेवन ने और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगली टीम और जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं मेडल वो है hockey Indian men's hockey team इकतालीस सालों बाद हमने हॉकी में दोबारा से कोई मेडल जीता है we claimed a bronze medal पाँच चार से जर्मनी को कर आप जानते हैं हम पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में we are the most successful team with eight golds in hockey <laughs> लेकिन वो वक्त गुज़रा और बीच में इकतालीस साल लगे हमें वापस से ये मेडल जीतने में इस टीम के जो कैप्टन हैं हर हरमनप्रीत वो उन्होंने अपने इस मेडल को डेडिकेट किया है जो करोना वायरस वॉरियर्स थे यानी कि हमारे डॉक्टर्स को एंड फ्रंट लाइन वर्कर को वर्कर्स को आ, इस टीम ने पंद्रह महीने बेंगलोर में बिताए अपने घर से दूर प्रैक्टिस और कोरोना का जो स्केयर था कि कहीं किसी प्लेयर को ना हो जाए ओलंपिक्स में जाने के पहले so they stayed away from their family और उनका जो कहना चाहिए कि सैक्रिफाइस है वो रंग लाया उनकी मेहनत रंग लाई and after forty one years we you know broke that spell and got a bronze medal for our Indian man hockey team और अब एक ऐसी टीम की बात जिसने मेडल तो नहीं जीता लेकिन पूरे भारत का दिल ज़रूर जीता है बताती हूँ आपको इस गाने के बाद डरिए या मरिए हर कोई तो जल सिद्ध पड़िए तू बेदरिए या मरिए फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा राज भर ले दस बार बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे तस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी पिसना यूं ही पिसना ही पिसना ही पत्थरिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए चक है कन्नों के मीठे में खतर में छीटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता बोही तो में बन है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी सिद्ध है ता सिद्ध है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक है दे इंडिया अब कि हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी they gave us actual moment where we all felt like Chak De India ये मूवी बनी तो थी एक फिक्शनल स्टोरी लाइन पर और loosely based on Indian hockey women team की जो 2002 की कॉमनवेल्थ गेम में जो जीत हुई 2007 की इस मूवी में इस गाने के बोल लिखे थे जयदीप साहनी ने संगीत था सलीम सुलेमान का और आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह सलीम सुलेमान और मरियाना डिक्रूज की पर्दे पर हमारे बारह प्लेयर्स और टीम कैप्टन के रूप में शाहरुख खान 1980 में भारतीय महिला हॉकी टीम का डेब्यू हुआ था और उसके बाद से टोक्यो ओलंपिक मिलाकर सिर्फ तीन बार भारतीय महिला टीम को खेलने का मौका मिल पाया है वहाँ तक पहुँच पाई है ये कहना चाहिए और इंडियन वुमेंस हॉकी टीम ने हिस्ट्री बना दी by qualifying for their first Olympic semifinal they lost to Great Britain in a battle on Friday but the journey has not been easy हालांकि हमारी टीम कोई मेडल नहीं जीत पाई लेकिन उसने सारे भारतवासियों का दिल ज़रूर जीत लिया it's being said that Indian women's hockey sixteen stories of struggle one tale of triumph अभी तो इतना वक्त नहीं है लेकिन कभी आपको मौका मिले तो जाके पढ़िएगा ज़रूर ये जो आ, हमारी महिला खिलाड़ी हैं इस टीम की उनकी सब की अपनी एक कहानी है अपना एक स्ट्रगल है and how they manage to reach to this point and take Indian team to play on world's platform अभी कुछ और नाम बाकी हैं जिनको अफकोर्स जिन्होंने मेडल तो नहीं पाया लेकिन मैं उनके नाम ज़रूर लेना चाहूँगी और उनके प्रयासों को एक्नॉलेज करूँगी इस गाने के बाद रूठे खबों को मना लेंगे छोटी पतंगों को थामेंगे है जज्बा है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा मांझा सोई तकदीरें जगा दे जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा मांझा मांझा मांझा रिश्ते पंखों को हवा देंगे रिश्ते दर्द को दवा देंगे जीत कभी हार कभी गम तो यार होंगे दो पल के मेहमान रिश्ते दहलीजे भी लांगेंगे रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे आंसू कभी मोती कभी जा भी मांगे यारो कर देंगे कुर्बान बिसरे यारों को बुला लेंगे सोई उम्मीदें जगा लेंगे हाँ, हाँ, है जज्बा हाँ, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा ये गाना जो अभी आपने सुना ये था 2013 की मूवी काई पोचे से इसमें मुख्य भूमिका में थे सुशांत सिंह राजपूत इस गाने को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने इसमें संगीत था अमित त्रिवेदी का और आवाज़ें भी थी अमित त्रिवेदी और मोहन कन्नन की इस गाने के पहले मैं बात कर रही थी कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मेडल तो नहीं मिले लेकिन उनके प्रयासों को एक्नॉलेज करना बनता है वैसे तो मुझे लगता है कि जो भी 117 खिलाड़ी चयनित होकर ओलंपिक्स में पहुँचे हैं उनमें कुछ तो बात होगी जो उनका चयन ओलंपिक्स के लिए हुआ तो सभी हमारी प्रशंसा के हकदार हैं दो नाम जो टॉप ऑफ माय हेड उसमें एक नाम है अदिति अशोक का जिन्होंने गोल्फ में फोर्थ प्लेस पे फिनिश किया she could not win a medal but her efforts are worth all appreciation और दूसरा नाम जो मैं लेना चाहूँगी वो है सी ए भवानी देवी का she is the first Indian fencer to ever qualify in Olympics. और fencing is not very common in India so इस नज़रिए से भी देखा जाए तो it's a huge achievement just to even qualify for Olympics for this game तो एक बार फिर जाते जाते अपने सारे खिलाड़ियों को जो इतनी मेहनत कर कर आज इस मकाम तक पहुँचे वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और उनकी मेहनत के लिए उनकी सराहना करते हैं जब हमारा कोई खिलाड़ी कोई पदक जीतता है या कोई सफलता हासिल करता है उस वक्त जाति धर्म वर्ग सब परे हो जाता है और पूरा देश एक सूत्र में बंध जाता है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं सुनिए तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं अपना गोत्र बतलाकर तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं अपना गोत्र बतलाकर पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर और ये लाइंस मैं अपने सभी इस खिलाड़ियों को समर्पित करती हूँ उनकी कठिन तपस्या उनके अथक मेहनत जिसके चलते वो आज यहाँ पर पहुँचे उन्होंने परफॉर्म किया हम आप हम सब की तरफ से उन्हें ढेरों बधाइयाँ और धन्यवाद अब पूजा को इजाज़त उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस तब तक गुनगुनाते रहिए मुस्कुराते रहिए टिल वी मीट अगेन नमस्कार कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे क्या क्या हो हम जग बिछाएंगे अपनी जीत हो उनकी हार हम अब डर नहीं मन में आवे चले चले चले हर बेड़ी अब खुल जावे जो तेरा हाकिम है जालिम है की है जिसने तबाही घर उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे हाँ जा क्या पर जा क्या हाँ, हाँ, हाँ, हम जग बिछाएंगे चलो चले चलो अब सर ना कोई झुकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो बार बार हाँ टूट गई बोलो यार हाँ उंगली उठी अपनी जीत हो उनकी हार हाँ